जम्मिनं जगैपुढो जगा कम्मेहिं लुपन्ति पाणिनो समयेव कडेहि गाहै नो तस्य मुच्चे च न तस्य दुःखम् विभयन्ति नाश्यो न मे तव गानस्यानबन्धव एकोऽयं पञ्चणु होयि दुःखम् कत्तारमेवाणुजायिकम् संसार में जितने भी प्राणी हैं सब अपने कृत कर्मों के कारण दुखी होते हैं अच्छा या बुरा जैसे भी कर्म हो उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता पापी जीव के दुख को न जाति वाले बांट सकते हैं न मित्र वर्ग न पुत्र और न भाई बंधु जब दुख आ पड़ता है तब वो अकेला ही उसे भोगता है क्योंकि कर्मा अपने कर्ता के पीछे लगते हैं अन्य किसी की नहीं पहले कुछ प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कल आपने समझाया कि मनुष्य की जीवेषणा ही उसके पुनर्जन्म को संसार के दुख चक्र को चलाए रखने का कारण लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि जीवन ही है परमात्मा और आपकी पूरी देशना जीवन स्वीकार पर केंद्रित है जीवेषणा का दुख मूल कारण है ऐसा कहना जीवन निषेधक लगता है जीवेश है कल भविष्य में और जीवन है अभी और यही जो जीवेश से घिरा है वो जीवन से वंचित रह जाता है और जिसे जीवन को जानना हो उसे जीवेश छोड़ देनी पड़ती है इसे थोड़ा ठीक से समझ लें वासना कभी भी वर्तमान में नहीं होती हमेशा भविष्य में होती और अस्तित्व सदा वर्तमान में होता है आपका होना तो सदा होता है अभी और यही लेकिन आपकी वासना सदा होती है कहीं और कहीं दूर आप है अभी और यही और आपका मन है कहीं और आपकी आकांक्षा अभीक्षा वासना सदा भविष्य में है भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय आपकी वासना को छोड़कर भविष्य है ही आपकी वासना का विस्तार अतीत है आपकी स्मृतियों का संग्रह भविष्य है आपकी वासनाओं का विस्तार समय तो सदा वर्तमान है हम आमतौर से समय का विभाजन करते हैं वर्तमान अतीत भविष्य तीन टुकड़ों में तोड़ देते हैं समय को वो भ्रांत है अतीत और भविष्य समय के खंड नहीं है अतीत है हमारी स्मृति और भविष्य है हमारी वासना समय तो सदा वर्तमान है समय तो सदा अभी है समय के तीन टुकड़े नहीं है समय तो एक अखंड धारा है जो अभी है साधारणता हम कहते हैं समय बीत जाता है ज्यादा अच्छा हो कहना कि हम बीत जाते हैं समय को कभी आपने बीतते देखा है कभी अतीत से आपका मिलना हुआ है कभी भविष्य से आपकी मुलाकात हुई है जब भी मिलन होता है वर्तमान से ही होता है लेकिन कभी आप बच्चे थे अब आप जवान हैं आप बीत गए हैं अभी आप जवान हैं कल आप बूढ़े हो जाएंगे और भी बीत जाएंगे कभी पैदा हुए थे कभी मर जाएंगे कभी भरे थे कभी चुप जाएंगे आदमी बीतता है समय नहीं बीतता हम खर्च होते हैं समय खर्च नहीं होता घड़ी चल के ये नहीं बताती कि समय चल रहा है घड़ी चल के ये बताती कि आप चुक रहे हैं आप समाप्त हो रहे हैं घड़ी आपके संबंध में कुछ बताती है समय के संबंध में कुछ भी नहीं अगर इसे ठीक से समझ लें तो ख्याल में आ जाएगा कि जीवेशना और जीवन में क्या फर्क है जीवेशना का मतलब है कल जीऊंगा मुझे कल चाहिए जीने के लिए आज नहीं जी सकता हूं आज जो भी है व्यर्थ है जो भी सार्थक है वो कल होगा जो भी सुंदर है जो भी सुखद है वो कल में छिपा है जो भी दुखद है अप्रीतिकर है वो आज में प्रकट हुआ लेकिन कल तो कभी आता नहीं जब भी आता है आज ही आता है कल भी आज ही आएगा और आज सदा व्यर्थ मालूम पड़ता है और कल सदा सपनों से भरा मालूम पड़ता है तो हम ऐसे जीवन को स्थगित करते हैं हम कहते हैं कल जी लेंगे आज तो जीने में असमर्थ पाते हैं अपने को आज तो जीवन से जुड़ने की कला नहीं जानते आज तो जीवन में डूबने और सरोबोर होने का रास्ता नहीं जानते आज तो जीवन ऐसे ही बीत जाता है कल जी लेंगे इस आशा में इस भरोसे में आज को हम बिता देते हैं लेकिन कल कभी आता नहीं कल फिर आज आ जाता है उस आज को भी हम वही करेंगे जो हमने आज किया आज के साथ कल भी हम वही करेंगे फिर हम आगे कल पर टाल देंगे ऐसे आदमी टालता चला जाता है मौत जब आती है तो हमें जो दुख और पीड़ा होती है वो मृत्यु की नहीं है जो असली पीड़ा है वो कल के समाप्त हो जाने की है मौत जब द्वार पर खड़ी हो जाती तो आज ही बचता है कल नहीं बचता है मौत आपको नहीं मारती भविष्य को मार देती मौत आपका अंत नहीं है भविष्य की समाप्ति है अब आप अपनी वासना को आगे नहीं फैला सकते अब कोई कल नहीं है कल कभी भी नहीं था लेकिन जो आपको जिंदगी न बता सकी वो आपको मौत बताती है कि अब कल नहीं है तब दीवार के किनारे आप अटके खड़े हो गए अब यही क्षण बचा अब क्या करें जीवन भर की आदत है आज तो जी नहीं सकते कल ही जी सकते हैं अब क्या करें इसलिए मौत की दीवार से टकराते लोग स्वर्ग की मोक्ष की पुनर्जन्म की भाषा में सोचने लगते उसका मतलब अब वो कल को फिर फैला रहे अब वो ये कह रहे हैं कि मरने के बाद भी शरीर ही मरेगा आत्मा तो रहेगी हम फिर जिएंगे भविष्य में जिएंगे इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा मर जाती है लेकिन जितने लोग ये सोचते हैं कि आत्मा रहेगी उनमें से शायद ही किसी को पता है आत्मा के रहने का उनके लिए ये फिर एक ट्रिक एक तरकीब है मन की वो फिर भविष्य को निर्मित कर रहे हैं एक बात तय है कि हम आज जीना नहीं जानते हैं वही अधर्म है पर हम कैसे आज जीना जानेंगे एक ही उपाय है कि हम कल की आशा में न जिए और आज चेष्टा करें जीने की अभी ये जो समय हमारे साथ अभी जुड़ा है इसमें ही हम प्रवेश कर जाएं, इस क्षण में ही हम उतर जाएं। जो आदमी बुद्धिमान है वो ऐसा मान के चलता है कि दूसरे क्षण मौत है है भी एक क्षण मेरे हाथ में है दूसरे क्षण का कोई भरोसा नहीं इस क्षण का मैं क्या उपयोग करूं इस क्षण को मैं कैसे उसकी परिपूर्णता में निचोड़ लू कैसे इस क्षण को पूरा जी लू कैसे ये क्षण व्यर्थ न चला जाए ऐसी चिंता है बुद्धिमान की बुद्धिहीन की चिंता यह है कि इस क्षण को अगले क्षण की विचार में खो दू अगले क्षण को और अगले क्षण के विचार में खो दूंगा ऐसे पूरे जीवन भ्रम होगा कि जिया और जीऊंगा बिल्कुल भी नहीं हम सिर्फ पोस्टपोन करते हैं स्थगित करते हैं कल कल कल एक दिन पाते हैं मौत आ गई अब आगे कोई कल नहीं तब तब छाती पर धक्का लगता है कि पूरा अवसर व्यर्थ हो गया जीवेशना का अर्थ है जीवन को चूकने की तरकीब इसलिए जीवन तो प्रभु है जीवेशना संसार है जीवन तो धर्म है जीवेशना पाप है क्या ये नहीं हो सकता है कि हम इस क्षण से ही जुड़ जाएं, डूब जाएं, इसमें ही लीन और एक हो जाएं। अगला क्षण भी आएगा लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में डुबकी लगाने में समर्थ है वो अगले क्षण में भी डुबकी लगा लेगा जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है देखो खेतों में खिले हुए लिली के फूलों को वे कल की चिंता नहीं करते वे अभी और यही खिल गए ऐसे ही तुम भी हो जाओ do not think of the मारो कल की मत सोचो लिली का फूल भी अगर कल की सोच सके अगर किसी तरकीब से हम उसमें भी जीवेश पैदा कर दें तो अभी कुमला जाएगा आदमी का कुमलाना कल की चिंता का परिणाम है बच्चे फूल की तरह खिले मालूम पड़ते क्या है कारण क्या है राज बच्चों के लिए अभी जीवेशना नहीं है जीवन ही है अभी वे खेल रहे हैं तो जैसे यही सब समाप्त हो गया है इसी खेल में सब पूरा है इस खेल में वे अपनी समग्र आत्मा से उतर गए हैं कल नहीं है जिस दिन बच्चा कल की सोचने लगता है समझो बूढ़ा होना शुरू हो गया जब तक बच्चा आज में जीता है अभी में जीता है तब तक समझना अभी वो बचपन का सौंदर्य है जिस दिन वो कल की सोचने लगे समझो कि बुढ़ापे ने उसे पकड़ लिया अब दोबारा बचपन बहुत मुश्किल हो जाएगा जीसस ने कहा है वही मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जो बच्चों की भांति है बच्चों की भांति होने का एक ही अर्थ है कि जो अभी और यही जीने में समर्थ है वे स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे स्वर्ग कहीं और नहीं है इसी क्षण में है नर्स कहीं और नहीं है स्थगित जीवन में है कल में है अस्तित्व पास खड़ा है स्वामी राम एक कहानी कहा करते थे वो कहते थे प्रेमी दूर चला गया जो समय दिया था नहीं लौट सका पत्र उसके आते रहे आऊंगा आऊंगा जल्दी आता हूँ जल्दी आता हूँ वो टालता रहा आना फिर प्रेस की तगड़ी प्रतीक्षा करते करते और एक दिन उसके द्वार पर पहुंच गई सांझ थी अंधेरा उतर रहा था छोटा सा दिया जला के वो अपने कमरे में बैठ के कुछ लिख रहा था प्रेसी ने बाधा न डालनी उचित समझी वो सामने बैठ गई वो पत्र लिखता वो पत्र ही लिख रहा था इसी प्रेसी को लिख रहा था प्रेमियों के पत्र उनका अंत नहीं आता वो लंबा होता चला गया रात आगे बढ़ती चली गई उसने आंख भी ना उठाई आंख से आंसू बह रहे हैं और वो पत्र लिख रहा है और फिर समझा रहा है कि आऊंगा जल्दी आऊंगा अब ज्यादा देर नहीं है और जिसके लिए पत्र लिख रहा है वो सामने बैठी पर आंसुओं से धूमिल आंखें पत्र में लीन उसका मन भविष्य में डूबी हुई उसकी वासना जो मौजूद है उसे नहीं देख पा रहा फिर आधी रात गए उसका पत्र पूरा हुआ आंखें उसने ऊपर उठाई भरोसा ना आया जिस दिन आप भी आंखें उठाएंगे भरोसा ना आएगा कि जीवन सामने ही बैठा था वो घबरा गया घबरा के उसने पूछा अभी वही सोच रहा था कि कब देखूंगा अपनी प्रेसी को कब होंगे दर्शन और अब दर्शन सामने हो गए तो वो घबरा गया समझा कि कोई भूत है प्रेत घबरा के जोर से पूछा कौन है तू उसकी प्रेत ने कहा क्या मुझे भूल ही गई मैं बड़ी देर से आकर बैठी हूँ तुम लिखने में लीन थे सोचा बाधा न डाल उसने सिर ठोक लिया उसने कहा कि मैं तुझे ही पत्र लिख रहा था हम सब भी जिसे पत्र लिख रहे हैं जिस जीवन को वो अभी और यही मौजूद है जिसकी हम कामना कर रहे हैं वो यही बिल्कुल हाथ के पास निकट ही खड़ा है लेकिन आंखें हमारी दूर भटक गई है कल्पना हमारी दूर चली गई इसलिए पास नहीं देख पाती हम पास के लिए सभी अंधे हो गए दूर का हमें दिखाई पड़ता है पास का हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता पास देखने की क्षमता ही हमारी खो गई अभ्यास ही हमारा दूर के देखने का है जितना दूर हो उतना साफ दिखाई पड़ता है जितना पास हो उतना धुंधला हो जाता है जीवन है अभी और जीवेशना है कल जो अपने प्राणों को कल पर लगाए हुए है उस विक्षिप्त चेतना का नाम जीवेशना जो जीवेशना को छोड़ देता है और अभी जीता है यही कल जैसे मिठी गया समय समाप्त हुआ ये क्षण ही सारा जीवन हो गया वो व्यक्ति उस द्वार को खोल लेता है जो जीवन का द्वार है जीवेशना का विरोध जीवन का विरोध नहीं है जीवेशना का विरोध जीवन का स्वीकार है ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम के विचारकों को भी ऐसा लगा कि महावीर बुद्ध ये सब जीवन विरोधी है इन सब की चिंतना लाइफ निगेटिव अल्बर्ट सबिजर ने बहुत गहरा गहरी आलोचना की है भारतीय चिंतन की चिंतना की समस्त भारतीय विचारधारा की और कहा है कि कितने ही सुंदर बातें उन्होंने कही हो लेकिन जीवन निषेधक लाइफ निगेटिव है जीवन के दुश्मन है ये लोग और सभी जर विचारशील मनुष्यों में से एक है उसके कहने में अर्थ है वो भी यही समझा सब छोड़ दो जीवन की कामना ही छोड़ दो तो, तो जीवन की दुश्मनी हो गई शत्रुता हो गई तो धर्म फिर जीवन का साथी ना रहा फिर तो ऐसा लगता है कि अधर्म ही जीवन का साथी है और धर्म मृत्यु का इसलिए सभी जन ने कहा है कि बुद्ध और महावीर और इस तरह के सारे चिंतक मृत्युवादी है और कहीं ना कहीं शत्रु है वो जीवन के और जीवन को उजाड़ डालना चाहते हैं नष्ट कर देना चाहते हैं फिर फ्राइड ने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की इस सदी की इस सदी में जो मनुष्य के मन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली उनमें बड़ी से बड़ी जानकारी फ्राइड की ये खोज है फ्राइड ने पूरे जीवन जीवन की कामना पर श्रम किया है लिबिडो वो नाम देता था वासना को कामना को यौन सेक्स लेकिन इनसे भी बेहतर शब्द उसने खोज रखा था लिबिडो उसे हम जीवेशना कह सकते हैं सब आदमी जीवेशना से चल रहे हैं और जिस दिन जीवेशना बुझ जाएगी उसी दिन आदमी बुझ जाएगा लेकिन जीवन के अंत अंत में फ्रायड को लगा कि ये आधी ही बात है आदमी में जीवन की इच्छा तो है ही ये बड़ी प्रबल कामना है लेकिन उसे लगा ये अधूरी बात है इसका दूसरा छोर भी क्योंकि इस जगत में कोई भी सत्य बिना द्वंद के नहीं होता डायलेक्टिकल होता है जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है तो अगर जीवन की वासना गहरे में है तो कहीं ना कहीं मृत्यु की वासना भी होनी चाहिए अन्यथा आदमी मरेगा कैसे अगर जीवन की वासना से जन्म होता है तो फिर मृत्यु की भी कोई गहरी छिपी कामना होनी चाहिए तो जीवन की वासना को फ्रायड ने कहा लिबिडो और मृत्यु की वासना को उसने एक नया नाम दिया कहा थानाटोस मृत्यु की आकांक्षा क्योंकि एक आदमी आत्महत्या भी कर लेता है एक आदमी बूढ़ा होकर सोचने लगता है जीवन व्यर्थ नहीं जीना है सिकोड़ लेता है अपने को एक घड़ी आ जाती है जब लगता है अब नहीं जीना है ऐसा नहीं कि किसी विश्वास से आ जाती हो किसी फ्रस्ट्रेशन से नहीं सारे जीवन को देख के ही ऊप हो जाती और आदमी सोच लेता है बस ठीक है देख लिया जान लिया पुनरुक्ति है वही वही है बार बार वही वही है उठो सुबह शाम सो जाओ खाओ पियो लेकिन अर्थ क्या है एक दिन आदमी को लगता है कि वो सब बचपना था जिसमें मैंने अर्थ समझा अभिप्राय देखा कुछ भी न था वहां राह सब हो जाती नहीं कि असफल हो गया आदमी हार गया इसलिए मरने की सोच रहा है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए मरने की सोचते हैं कि उनकी जीवन की कामना बहुत प्रबल है आप एक स्त्री को चाहते थे वो नहीं मिल सकी आप कहते हम नहीं जिएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन से उदास हो गए आपका जीवन सशर्त जीवन था एक कंडीशन थी कि ये स्त्री मिलेगी तो ही जिएंगे ये मकान बनेगा तो ही जिएंगे ये धन मिलेगा तो ही जिएंगे नहीं तो नहीं जिएंगे आप जीवन के प्रति बड़े मोहग्रस्त थे आपने शर्त बना रखी थी शर्त पूरी नहीं हुई इसलिए मर रहे हैं आप जीवन के विरोधी नहीं है आप जीवन के बड़े मोही थे और मोह ऐसा भारी था कि ऐसा होगा तो ही जिएंगे ये लगाव इतना गहरा हो गया था ये विक्षिप्तता इतनी तीव्र थी इसलिए आप मरने की तैयारी कर रहे हैं ये नहीं है थानाटोस ये मृत्युषणा नहीं है मृत्युषणा तो तब है जबकि जीवन में न कोई असफलता है न जीवन में कोई विषाद है लेकिन सब चीजें पूरी हो गई और सूर्यास्त हो रहा है शरीर भी डूब रहा है और मन भी अब जीने की बात से उब गया और मन भी डूब रहा है ऐसा आदमी आत्महत्या नहीं करता ध्यान रखना आत्महत्या तो वही करता है जो अभी जीवन की आकांक्षा से भरा था ये उल्टा मालूम पड़ेगा लेकिन जितने आत्महत्यारे हैं बड़े जीवन ऐसा से भरे हुए लोग होते हैं ऐसा आदमी आत्महत्या नहीं करता आत्महत्या भी व्यर्थ मालूम पड़ती जिसको जीवन ही व्यर्थ मालूम पड़ रहा है उसे आत्महत्या सार्थक मालूम नहीं पड़ती वो कहता है ना जीवन में कुछ रखा है ना जीवन के मिटाने में कुछ रखा है ऐसा आदमी चुपचाप डूबता है जैसे सूरज डूबता है झटके से छलांग नहीं लगाता डूबता चला जाता है लेकिन डूबने का कोई विरोध नहीं करता है अगर ऐसा आदमी पानी में डूब रहा हो तो हाथ पैर भी नहीं चलाएगा न बचने में कोई अर्थ है न ही वो अपने हाथ से डुबकी लगा के मरना चाहेगा गला घोटेगा न घोटने में कोई अर्थ है पानी के साथ हो जाएगा कि डूबाए तो डूबाए न डूबा है तो न डूबा है जो हो जाए सब बेकार है इसलिए कुछ करने का भाव नहीं रह जाता इसको फ्राइड ने थाना टोस कहा है बूढ़ी उम्र के ज्यादा उम्र के लोगों को अक्सर ये आकांक्षा पकड़ लेती ये आकांक्षा बूढ़ी उम्र के लोगों को भी पकड़ती है और फ्राइड का कहना बूढ़ी सभ्यताओं को भी पकड़ती है जब कोई सभ्यता बूढ़ी हो जाती जैसे भारत बूढ़े से बूढ़ी सभ्यता है जमीन पर हम इसमें गौरव भी मानते हैं सीरिया अब कहा है मिस्र की पुरानी सभ्यता अब कहा है यूनान कहा रहा सब खो गए बेबीलोन कहा है अब खंडरों में सब खो गए पुरानी सभ्यताओं में एक ही सभ्यता बाकी है भारत बाकी सब सभ्यताएं जवान हैं कुछ तो बिल्कुल अभी दूध हुई दूध पीती हुई बच्चियां हैं जैसे अमेरिका अभी उम्र ही तीन सौ साल की तीन सौ साल की कुल सभ्यता है तीन सौ साल हमारे लिए कोई हिसाब ही नहीं होता दस हजार साल से तो हम अपना स्मरण और अपना इतिहास भी संभालते रहे हैं लेकिन तिलक ने कहा है कि कम से कम भारत की सभ्यता नब्बे हजार वर्ष पुरानी और बड़े प्रमाणिक आधारों पर कहा है संभावना है कि इतनी पुरानी है तो फ्रायड कहता है जैसे आदमी बूढ़ा होता है ऐसी सभ्यताएं भी बच्ची होती हैं जवान होती हैं बूढ़ी होती हैं जब सभ्यताएं बचपन में होती हैं तब खेल कूद में उनकी उत्सुकता होती है जैसे अमेरिका है अमेरिका की सारी उत्सुकता मनोरंजन है खेल कूद है नाच गान हमें बहुत हैरानी होती उनका जाज उनके बीटल उनके हिप्पी हमें देख के बड़ी हैरानी होती है लेकिन हमको समझ में नहीं आता छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं ऐसी छोटी सभ्यता होती है आज हिप्पी लड़के और लड़कियों को देख रहे उनके रंगीन कपड़े उनके घूंगर उनके गले में लटकी हुई मालाएं ये सब छोटे बच्चों का खेल है सभ्यता अभी ताजी है बूढ़ी सभ्यताएं बहुत हिकारत से देखती हैं जैसे बूढ़े बच्चों को देखते ना समझ फिर जवान सभ्यताएं होती जवान सभ्यताएं जब होती तब वे युद्ध खोर हो जाती है क्योंकि जवान लड़ना चाहता है जीतना चाहता है जैसे अभी चीन जवान हो रहा है वो लड़ेगा जीतेगा अभी भाव विजय यात्रा का है फिर बूढ़ी सभ्यताएं होती तो फ्रायड ने कहा है जैसे व्यक्ति के जीवन में बचपन जवानी बुढ़ापा होता है ऐसी सभ्यताओं के जीवन में भी होता है अगर हम सविजर और फ्रायड दोनों के ख्यालों को ध्यान में ले लें तो ऐसा लगेगा कि महावीर और बुद्ध की बातें एक बूढ़ी सभ्यता की बातें जो अब मरने के लिए उत्सुक हो गई है जो कहती कुछ सार नहीं जीवन में कुछ अर्थ नहीं जीवन में जीवन आसार है छोड़ो आसार छोड़ो सपने मरने के लिए तैयार हो जाओ और निर्वाण शब्द ने और भी सहारा दे दिया बुद्ध का निर्वाण शब्द मृत्यु सूचक है निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना मिट जाना समाप्त हो जाना निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझना जब दिया बुझता है तो हम कहते हैं दिया निर्वाण को उपलब्ध हो गया ऐसे ही जब आदमी के भीतर जीवेश की ललक जीवेशना की आकांक्षा जीवेशना की ज्योति बुझ जाती है खो जाती है उसको बुद्ध ने कहा निर्वाण तो स्वभावता सभी चर और फ्राइड को लगे कि ये कौन बूढ़ी हो गई है और केवल बूढ़ी नहीं हो गई है इतनी बूढ़ी हो गई है कि जीने की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी फिर महावीर की संथारा की धारणा ने और भी ख्याल दे दिया अकेले महावीर ऐसे व्यक्ति हैं पूरी पृथ्वी पर जिन्होंने सन्यासी को मरने की सुविधा दी है और जिन्होंने कहा है कि अगर कोई सन्यासी मरना चाहे तो हकदार है मरने का इतनी हिम्मत की बात किसी और ने कही नहीं महावीर कहते हैं कि अगर कोई मरना चाहे तो ये उसका हक है अधिकार है हम न मानना चाहेंगे हम कहेंगे पुलिस पकड़ेगी अदालत में मुकदमा चलेगा अगर पकड़ लिए गए अगर असफल हो गए और हम असफल करने का सारा उपाय करेंगे इसका तो मतलब हुआ कि महावीर ने सुसाइड की आत्महत्या की आज्ञा दी है कि कोई सन्यासी मरना चाहे तो मर सकता है किसी को हक नहीं है उसे जबरदस्ती रोकने का इससे और भी ख्याल साफ हो गया कि ये ये धारणा मृत्युवादी है डेथ ओरिएंटेड है जीवन से इसका संबंध कम और मृत्यु से संबंध ज्यादा है तो ये लिपिडो के खिलाफ है इसीलिए ब्रह्मचरी के पक्ष में है काम के खिलाफ है सिकोड़ने के पक्ष में है फैलने के खिलाफ है प्रेम के खिलाफ है विरक्ति के पक्ष में और अंततः मृत्यु के पक्ष में है जीवन के खिलाफ और महावीर से तो सहारा पूरा मिल गया क्योंकि महावीर कहते हैं आदमी को हक है मरने का लेकिन भूल हो गई है महावीर और बुद्ध जैसे व्यक्तियों को समझना सिर्फ ऊपर से आसान नहीं है बहुत भीतर उतरना जरूरी है महावीर ने आत्महत्या की आज्ञा नहीं दी क्योंकि महावीर की शर्तें हैं महावीर कहते हैं वो आदमी मरने का हकदार है जिसको जीवन की कोई भी आकांक्षा शेष नहीं रहेगी कोई भी इसलिए महावीर ने नहीं कहा कि जहर लेके मर जाना क्योंकि धोखा हो सकता है एक क्षण में कभी ऐसा लग सकता है कि सब आकांक्षा खत्म हो गई और आदमी मर सकता है इसलिए महावीर ने कहा जहर लेकर मत मर जाना क्योंकि क्षण में धोखा हो सकता है महावीर ने कहा उपवास कर लेना उपवास करके कोई मरेगा तो कम से कम नब्बे दिन लग जाते नब्बे दिन सोच विचार के लिए लंबा अवसर है दुनिया में कोई आदमी नब्बे दिन तक आत्महत्या के विचार पे स्थिर नहीं रह सकता और अगर रह जाए तो अपूर्व ध्यान को उपलब्ध हो गया है नब्बे दिन की बात अलग वैज्ञानिक कहते हैं कि एक सेकंड भी आत्महत्या में चूके के चूक गए उसी वक्त कर लो तो कर लो क्योंकि वो भावावेश में होती है तीव्र भावावेश में कोई दुख लगा और एक आदमी छलांग लगा के छत से कूद गया फिर अब बीच में समझ में भी पड़े तो कोई उपाय नहीं अब कूद ही गए अब मरना ही पड़ेगा जितने लोग आत्महत्या करके मरते हैं अगर हम उनको जिला सकें तो वे सभी कहेंगे कि हमसे गलती हो गई क्षण के आवेश में आदमी कुछ भी कर लेगा इसलिए महावीर ने कहा आवेश नहीं चलेगा नब्बे दिन का वक्त चाहिए भोजन त्याग कर दो पानी का त्याग कर दो जिस आदमी को जीवन का सब रंग चला गया है उसको प्यास की पीड़ा भी अखरेगी नहीं अगर अखरती है तो अभी जीवन को जीने का रस बाकी है जिस आदमी को जीवन का ही अर्थ चला गया वो अब ये नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है और पेट में बड़ी तकलीफ होती क्योंकि पेट की तकलीफ जीवन का अंग थी जीवन का अंग थे वे सारी चीजें की तकलीफ हो रही है पीड़ा हो रही है वो जीवेशना को ही हो रही थी अगर जीवेशना नहीं रही तो ठीक है भूख भी ठीक है भोजन भी ठीक है प्यास भी ठीक है पानी भी ठीक है न मिला तो भी ठीक है मिला तो भी ठीक है ऐसी विरक्ति आ जाएगी तो महावीर ने कहा नब्बे दिन तक जो शांति पूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा कर सके अशांत ना हो जाए इसमें भी जल्दबाजी ना करे उसे आज्ञा है कि वो मर सकता है ये आत्महत्या नहीं है ये जीवन से मुक्त होना है जीवन की मृत्यु नहीं है और जीवन से मुक्त होना कहना भी ठीक नहीं है जीवेशना से मुक्त होना लेकिन समझना कठिन है और उन्होंने जो जो बातें कही हैं जिनमें हमें लगता है कि निषेधक है वे कोई भी निषेधक नहीं है महावीर तो कहते ही ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही मन से मृत्यु को अंगीकार करता है तभी परिपूर्ण जीवन को समझ पाता है इसे थोड़ा हम समझ ले है भी यही बात जब हमें सफेद लकीर खींचनी होती है तो हम काले ब्लैक बोर्ड पर खींचते सफेद दीवार पर नहीं सफेद दीवार पर खींची गई सफेद लकीर दिखाई भी नहीं पड़ेगी जितना होगा काला तख्ता उतनी उभर कर दिखाई पड़ेगी जब बिजली चमकती है पूर्णिमा की रात में तो पता भी नहीं चलती और जब बिजली चमकती है अमावस को तभी पता चलती है महावीर की समझ यह है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को अपने हाथ से वरण कर लेता है मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तो मृत्यु का जो दंश है दुख है पीड़ा है वो तो खो गई मृत्यु एक काली रात्रि की तरह चारों तरफ गिर जाती और जब कोई व्यक्ति इसका कोई निषेध नहीं करता कोई इंकार नहीं करता तो मृत्यु पृष्ठभूमि बन जाती है बैकग्राउंड बन जाती है और पहली दफे जीवन की जो आभा है जीवन की जो चमक जो बिजली है जीवन की जो ज्योति है इस चारों तरफ गिरी हुई मृत्यु के बीच में दिखाई पड़ती जो जीवेश से गिरा है वो जीवन को कभी नहीं देख पाता क्योंकि वो सफेद दीवार पर लकीरें खींच रहा है जो मृत्यु से घिर के जीवन को देखने में समर्थ हो जाता है वही जान पाता है कि मैं अमृत हूं मेरी कोई मृत्यु नहीं है ये जरा उल्टा मालूम पड़ता है लेकिन जीवन के नियम के अनुकूल है जीवन के नियम के अनुकूल है मृत्यु की सघनता में गिरकर ही जीवन भी सघन हो जाता है मृत्यु जब चारों तरफ से घेर लेती है तो जीवन भी अखंड होकर बीच में खड़ा हो जाता है और जब हम मृत्यु में भी जानते हैं कि मैं हूं जब हम मृत्यु में डूबते हुए भी जानते हैं कि मैं हूं जब मृत्यु सब तरफ से हमें घेर लेती तब भी हम जानते हैं कि मैं हूँ जब मृत्यु हमें शरीर के बाहर भी ले जाती है तब भी हम जानते हैं कि मैं हूँ तभी कोई जानता है कि मैं के होने का क्या अर्थ है क्या है जीवन वो हम मृत्यु नहीं जानते मरते हम सब हैं लेकिन हमारी मृत्यु बेहोश है मरते हम सब हैं लेकिन नहीं मरने की आकांक्षा इतनी प्रबल होती है कि मृत्यु को हम दुश्मन की तरह लेते हैं और जब दुश्मन की तरह लेते हैं तो हम मृत्यु से लड़ते हैं हम मरते नहीं हम लड़ते हुए मरते हैं हम मरते नहीं शांत मौन ध्यान पूर्वक देखते हुए हम इतना लड़ते हैं इतना उपद्रव मचाते हैं इतना बचना चाहते हैं कि उस चेष्टा में बेहोश हो जाते मृत्यु की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जैसे कि सर्जन आपकी कोई हड्डी काट रहा हो तो एनेस्थेसिया दे देता है बेहोशी की दवा दे देता है क्योंकि डर है कि जब वो हड्डी काटेगा तो आप लड़ेंगे काटने से कि न काटी जाए घबराएंगे पीड़ित होंगे परेशान होंगे रेसिस्टेंस खड़ा होगा तो आपके शरीर में दो तरह की धाराएं हो जाएंगी एक तरफ काटने की बात है और एक तरफ आप बचाने की चेष्टा करेंगे अगर आपको सुई भी चुभाई जाए तो आप बचाने की चेष्टा करेंगे अपने को स्वाभाविक है तो बेहोश करना जरूरी है ताकि आप उपद्रव खड़ा ना करें मृत्यु सबसे बड़ी सर्जरी है एक हड्डी नहीं कटती सारी हड्डियों से संबंध कटता है एक मांसपेशी नहीं कटती सारे मांस से संबंध टूट जाता है जिस शरीर के साथ आप सत्तर वर्ष तक एक होकर जिए थे और जिसके खून खून और रोए रोए में आपकी चेतना समाविष्ट हो गई थी और जिसमें समाविष्ट ही नहीं हो गई थी आपने एकात्म बना लिया था कि मैं शरीर हूँ उससे अलग होना बड़ी से बड़ी सर्जरी है आप होश में तभी रह सकते हैं जब आपका मृत्यु से विरोध ना हो अगर विरोध ना हो आप मौन और शांति स्वीकार पूर्वक अगर मृत्यु में डूबे उसी को महावीर ने संथारा कहा है आत्म मरण कहा है तो आप बेहोश नहीं होंगे तो मृत्यु को अनस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हम इतने घबरा जाते हैं और इतने तनाव से भर जाते हैं और इतना बचना चाहते हैं और अपनी खाट को इतने जोर से पकड़ लेते कि कहीं मृत्यु छीन के ना ले जाए इतने तनाव में भर जाते हैं कि वो तनाव एक सीमा पर आ जाता है उस सीमा के आगे जाना असंभव है तत्काल शरीर अनेस्थेसिया को छोड़ देता है और हम बेहोश हो जाते हैं अधिक लोग अधिकतम लोग बेहोशी में मरते हैं इसलिए हमें मृत्यु की फिर नए जन्म में कोई याद नहीं रह जाती जो लोग होश में मरते हैं उनको दूसरे जन्म में याद रह जाती है क्योंकि याद हमें सिर्फ होश की रह सकती है बेहोशी की याद नहीं रह सकती ये जो बेहोशी की घटना घटती है मृत्यु में यह हमारे ही जीवेशना का परिणाम है तो महावीर कहते हैं जीवेशना छोड़ दो जियो और जो जीवन को जीता है अभी और कल की फिक्र नहीं करता वो मृत्यु को भी जी लेगा जब मृत्यु आएगी और कल की फिक्र नहीं करेगा मृत्यु भी उसे जीवन की परिपूर्णता बन जाएगी विरोध नहीं वो मृत्यु को भी देख लेगा पहचान लेगा और जिसने होश से मृत्यु को देख लिया उसने जीवन को भी देख लिया क्योंकि वो होश जो मृत्यु के मुकाबले भी टिक गया वही है जीवन वो जागृति जो मृत्यु भी न बुझा सकी वो समझ जो मृत्यु भी मिटा ना सकी वो बोध जो मृत्यु भी धुंधला ना कर सकी वही बोध है जीवन महावीर जीवन विरोधी नहीं है जीवेशना विरोधी है और जीवेशना मिटे तो ही जीवन का अनुभव संभव है अब हम उनके सूत्र को लें संसार में जितने भी प्राणी हैं सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुखी होते अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हो उसका फल भोगे भोगे बिना छुटकारा नहीं है पापी जीव के दुख को न जाति वाले बटा सकते हैं न मित्र न पुत्र न भाई न बंधु जब दुख आ पड़ता है तब अकेला ही उसे भोगना है क्योंकि कर्म अपने कर्ता के पीछे रखते हैं अन्य किसी के नहीं इसमें कुछ क्रमिक रूप से हम बिंदु समझ लें संसार में जितने प्राणी हैं सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुखी होते हैं पहली बात यह आधारभूत है अगर आप दुखी होते हैं तो अपने ही कारण लेकिन हम सभी सोचते हैं कि दूसरे के कारण कभी आपने ऐसा समझा है कि दुखी आप हो रहे हैं अपने कारण कभी भी नहीं क्योंकि जिस दिन आप ऐसा समझ लेंगे उस दिन उस दिन आपके जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो गई उस दिन आपने धर्म के मंदिर में प्रवेश करना शुरू कर दिया हम सदा सोचते हैं दुखी हो रहे हैं दूसरे के कारण कभी ऐसा नहीं लगता कि अपने कारण दुखी हो रहे हैं न वो गाली देता न हम दुखी होते न उस आदमी ने हमारी चोरी की होती ना हम दुखी होते न वो आदमी पत्थर मारता ना हम दुखी होते साफ ही है बात की दूसरे हमें दुख दे रहे हैं इसलिए हम दुखी हो रहे हैं अगर कोई हमें दुख न दे तो हम दुखी ना होंगे ये बात कितनी तर्कपूर्ण लगती है कि हमारे मन को दूसरी बात का ख्याल ही नहीं आता कि हम अपने कारण दुखी हो रहे हैं पति पत्नी के कारण बेटा माँ के कारण भाई भाई के कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान के कारण पाकिस्तान हिंदुस्तान के कारण हिंदू मुसलमान के कारण मुसलमान हिंदुओं के कारण सब किसी और की वजह से दुखी हो रहे हैं राजनीति का मौलिक आधार ये सूत्र है कि दुख दूसरे के कारण है और धर्म का ये मौलिक सूत्र है कि दुख अपने कारण है सारी राजनीति इस पर खड़ी है कि दुख दूसरे के कारण है इसलिए दूसरे को मिटा दो दुख का कारण मिट जाएगा या दूसरे को बदल डालो दुख का कारण मिट जाएगा या परिस्थिति को दूसरा कर लो दुख मिट जाएगा दुनिया में दो तरह की बुद्धियां हैं राजनीतिक और धार्मिक और ये दो सूत्र हैं उनके आधार में अगर आप सोचते हैं कि दूसरे के कारण दुखी है तो आप राजनीतिक चित्त वाले व्यक्ति हैं आपको कभी ख्याल भी ना आया होगा कि पत्नी सोच रही पति के कारण दुखी हूं इसमें कोई राजनीति पूरी राजनीति इसलिए राजनीति में जो होगा वो यहां भी होगा कलह खड़ी होगी संघर्ष खड़ा होगा एक दूसरे को बदलने की चेष्टा होगी एक दूसरे को अपने ढंग पर लाने का प्रयास होगा एक दूसरे को मिटाने की चेष्टा होगी हम इस भाषा में कभी सोचते नहीं क्योंकि भाषा अगर सख्त हो तो हमारे भ्रम तोड़ सकती है इसलिए हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हम एक दूसरे को मिटाने की चेष्टा में लगे हम कहते हैं एक दूसरे को बदल रहे हैं बदलने का मतलब क्या है तुम जैसे हो वैसा मेरे दुख के कारण हो तुमको मैं बदलूंगा तब तुम अनुकूल हो जाओगे मेरे तो मेरे सुख के कारण हो जाओगे दूसरी बात ध्यान में ले लें कि क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरा दुख का कारण है इसलिए हम ये भी सोचते हैं कि दूसरा सुख का कारण है न दूसरा दुख का कारण है न दूसरा सुख का कारण है सदा कारण हम है जिस दिन आदमी इस सत्य को समझना शुरू कर देता है उस दिन धार्मिक होना शुरू हो जाता है क्यों ये जोर इतना क्यों है महावीर का कि दुख या सुख के कारण हम है इसका इस पे जोर के गहरी गहरे अवलोकन पर निर्भर ये बात है और ये कोई महावीर अकेले का कहना नहीं है इस पृथ्वी पर जिन लोगों ने भी मनुष्य के सुख दुख के संबंध में गहरी खोज की है निरपवाद रूप से वे इस सूत्र से राजी है इसलिए मैं नहीं कहता कि ईश्वर का मानना धर्म का मूल सूत्र है क्योंकि बहुत धर्म ईश्वर को नहीं मानते खुद महावीर नहीं मानते बुद्ध नहीं मानते ईश्वर मूल आधार नहीं है धर्म का कोई सोचता हो वेद मूल आधार है तो गलती में है कोई सोचता हो बाइबल मूल आधार है तो गलती में कोई सोचता हो कि ये है मूल आधार धर्म का कि दुख और सुख का कारण मैं हूं तो गलती में नहीं है तो धर्म की मौलिक पकड़ उसकी समझ में आ गई ये निरपवाद सत्य है वेद माने कोई कुरान कोई Bible Mahavir Buddha Jesus Muhammad किसी को माने अगर इस सूत्र पर उसकी समझ आ गई है तो कहीं से भी रास्ता मिल जाएगा अगर ये सूत्र उसके ख्याल में नहीं आया तो वो किसी को भी मानता रहे कोई रास्ता मिल नहीं सकता है क्यों मैं ही क्यों जिम्मेवार हूँ अपने सुख और दुख का जब मुझे कोई गाली देता है स्वभावता दिखाई पड़ता है कि वो गाली दे रहा है और मैं दुखी हो रहा हूं लेकिन ये पूरी श्रृंखला नहीं आप आधी श्रृंखला देख रहे हैं मेरा कोई अपमान करता है गाली देता है मुझे दुख होता है लेकिन ये श्रृंखला अधूरी है ये दुख असली में इसलिए होता है कि मैं मान चाहता था सम्मान चाहता था और कोई गाली देता है अपमान करता है जो मैं चाहता था वो नहीं होता दुखी होता हूं मेरे दुख का कारण आपका अपमान करना नहीं है मेरी मान की आकांक्षा है मान की आकांक्षा जितनी ज्यादा होगी उतना ही अपमान का दुख बढ़ता जाएगा मान की आकांक्षा न होगी अपमान का दुख कम होता जाएगा मान की आकांक्षा शून्य हो जाएगी अपमान में कोई भी दुख नहीं रह जाता तो दुख अपमान में नहीं है मान की आकांक्षा में और ध्यान रहे अपमान तो कोई बात ना करता है पहले मान की आकांक्षा मेरे पास होनी चाहिए मेरे पास मान की आकांक्षा हो तो ही कोई अपमान कर सकता है जो मैंने चाहा ही नहीं है उसके न मिलने पर कैसा दुख तो? अगर चोर आपको दुख देता है आपकी चीज छीन ले जाता है तो ऊपर से साफ दिखता है कि चोर की वजह से दुख हो रहा है लेकिन चीज को पकड़ने का मोह परिग्रह का जो भाव था उसके कारण दुख हो रहा है वो ख्याल में नहीं आता मूल में चोर नहीं है मूल में आप ही है मूल में पकड़ना चाहते थे ये चीज मेरी है इसे कोई न छीने और फिर कोई छीन लेता है तो दुख होता है अपना ही लोभ अपना ही परिग्रह चोर को दुख देने के लिए अवसर बनता है इसे हम खोजें ठीक से तो जहां भी हम दुख पाएंगे वहां श्रृंखला की एक कड़ी हम देखते नहीं उसे हम छोड़ जाते हम अपने को बचा के सोचते हैं सदा दूसरे से शुरू करते हैं जहां से कड़ी की शुरुआत नहीं है वहां से शुरू नहीं करते जहां से कड़ी की असली शुरुआत है कौन सी चीज आपकी है क्रूधों ने कहा है सब संपत्ति चोरी इस अर्थ में कहा है कि आप नहीं थे तब भी वो संपत्ति थी आप नहीं होंगे तब भी होगी कोई संपत्ति आपकी नहीं है आपने नहीं चुराई होगी आपके पिता ने चुराई होगी पिता ने नहीं चुराई होगी उनके पिता ने चुराई होगी लेकिन सब संपत्ति चोरी है छीना झपटी है फिर कोई दूसरा चोर आपसे छीन ले जाता आप दुखी हो रहे हैं चोरों का समाज है उसमें एक चोर दूसरे चोर को सुखी कर रहा है दुखी कर रहा है इसे अगर कोई ठीक से देखेगा कि जिसको भी मैं कहता हूं मेरा वहीं मैंने दुख की शुरुआत कर दी क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं मैं आता हूं खाली हाथ बिना कुछ लिए और जाता हूं खाली हाथ बिना कुछ लिए इन दो के बीच में बहुत कुछ मेरे हाथ में होता है उसमें कुछ भी मेरा नहीं जब मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको दिखाई पड़ जाए चोर उसे दुखी नहीं करेगा रिंझाई के बाबत सुना है मैंने एक रात चोर उसके घर में घुस गया कुछ भी न था घर में रिंझाई बहुत दुखी होने लगा अकेला एक कंबल था जिसे वो ओढ़ के सो रहा था वो बड़ा चिंतित हुआ कि ये चोर आया खाली हाथ लौटेगा रात ठंडी है इतनी दूर आया गांव से पांच मील का फासला है और फकीर के घर में कहा चोर आते हैं और जो चोर फकीर के घर में आया उसकी हालत कैसी बुरी ना होगी तू बड़ा चिंतित होने लगा और कैसे इसकी सहायता करूं एक कंबल है वो मैं ओढ़ तो जो मैं ओढ़ हूँ वो तो ये ले जाना सकेगा तो कंबल को दूर रख के सड़क पे सो गया चोर बड़ा हैरान हुआ कि भी कैसा है घर में कुछ है भी नहीं एक कंबल ही दिखाई पड़ता है वो भी अलग रख के अलग क्यों सो सो गया मुझे देख के वो लौटने लगा तो रंझाई ने कहा ऐसे खाली हाथ मत जाओ मन में पीड़ा रह जाएगी कभी तो कोई चोरी करने आया ऐसा अपना सौभाग्य था कि कोई चोरी करने आया है ही नहीं कुछ एक कंबल लेते जाओ और अब जब दोबारा आओ तो जरा पहले से खबर करना गरीब आदमी हूं कुछ इंतजाम कर लू चोर तो घबराहट में कंबल लेके भागा कि कहा के आदमी के चक्कर में पड़ गया लेकिन रास्ते में जाकर उसे ख्याल आया कि भागने की कोई जरूरत न थी पुरानी आदत से भाग आया हूं इस आदमी से भागने की क्या जरूरत थी वापिस लौटा वापस लौटा तो नग्न रिंझाई लंगोटी लगाए खिड़की पर बैठा था चांद को देख रहा था और उसने एक गीत लिखा था चोर वापस आया तो वो गीत गुनगुना रहा था उसका गीत बहुत प्रसिद्ध हो गया उस गीत में वो चांद से कह रहा है कि मेरा बस चले तो चांद को आकाश से तोड़कर उस चोर को भेंट कर दू चोर ने गीत सुना वो चरणों में गिर पड़ा उसने कहा तुम कह क्या रहे हो मैं चोर हूं मुझे तुम चांद भेंट करना चाहते हो मैं गलती से भाग गया मुझे पास ले लो कब ऐसा दिन आएगा कि मैं भी तुम जैसा हो जाऊं अब तक जिनके घर में मैं गया वो भी सब चोर थे मालिक मुझे पहली दफा मिला है कोई बड़े चोर हैं कोई छोटे चोर हैं कोई कुशल चोर है कोई अकुशल चोर है कुछ न्याय संगत चोरी करते हैं कुछ न्याय विपरीत चोरी करते हैं और उस चोर ने कहा जिनके घर में भी गया सब चोर थे एक दफा पहले आदमी मिला है जो कि चोर नहीं है और वे सब भी मुझे शिक्षा देते रहे कि चोरी मत करो लेकिन उनकी बात मुझे जची नहीं क्योंकि वो चोरों की ही बात थी तुमने कुछ भी ना कहा लेकिन मेरी चोरी छूटती मुझे अपने जैसा बना लो कि मैं भी चोर न रह जाऊं क्या हम अनुभव करते हैं वो हम पर निर्भर है ये रिंझाई की करुणा चोर के प्रति रिंझाई की ही बात है चोर के प्रति आप में दुख पैदा होता क्रोध पैदा होता घृणा पैदा होती लेकिन करुणा पैदा नहीं हो सकती थी जो हम में पैदा होता है वो हमारे भीतर है दूसरा तो सिर्फ बहाना है दूसरा है सिर्फ बहाना जो निकलता है वो हमारा है लेकिन हमें अपना कोई पता नहीं इसलिए जब बाहर आता है तो हम समझते हैं दूसरे का दिया हुआ है अगर आपके बाहर दुख आता है तो दूसरा तो केवल बहाना है दुख आपके भीतर दूसरा तो सिर्फ सहारा बन जाता है बाहर लाने का इसलिए जो आपके दुख को बाहर ले आता है उसका अनुग्रह मानना क्योंकि वो बाहर न लाता तो शायद आपको अपने भीतर छिपे हुए दुख के कुओं का पता ही ना चलता सुख भी दूसरा बाहर लाता है दुख भी दूसरा बाहर लाता है सिर्फ निमित्त है निमित्त शब्द का महावीर ने बहुत उपयोग किया ये शब्द बड़ा अद्भुत है ऐसा कोई शब्द दुनिया की दूसरी भाषा में खोजना मुश्किल है निमित्त निमित्त का मतलब है जो कारण नहीं है और कारण जैसा मालूम पड़ता है आपने मुझे गाली दी दुख हो गया तो महावीर नहीं कहते कि गाली देने से दुख हुआ वो कहते निमित्त गाली निमित्त बनी दुख तैयार था वो प्रकट हो गया गाली कारण नहीं है कारण तो सम्मान की आकांक्षा है गाली निमित्त निमित्त का मतलब सूडोकाज झूठा कारण मिथ्या कारण दिखाई पड़ता है यही कारण है और ये कारण नहीं निमित्त का मतलब कारण को छिपाने की तरकीब असली कारण छिप जाए भीतर और झूठा कारण बना लेने का उपाय इसलिए महावीर कहते हैं संसार में जितने भी प्राणी हैं सब अपने ही कारण दुखी होते हैं और ये कारण क्यों उनके भीतर इकट्ठा हुआ है कृत कर्मों के कारण जो जो उन्होंने पीछे किया है उससे उनकी आदतें निर्मित हो गई जो जो उन्होंने पीछे किया है उससे उनके संस्कार निर्मित हो गए उनकी कंडीशनिंग हो गई जो उन्होंने किया है वही उनका चित्त है जो जो वे करते रहे हैं वही उनका चित्त है उस चित्त के कारण वे दुखी होते हैं चित्त है हमारे अनंत अनंत कर्मों का संस्कार समझे कल भी आपने कुछ किया परसों भी आपने कुछ किया इस जन्म में भी पिछले जन्म में भी वो जो सब आपने किया है उसने आपको ढांचा दे दिया एक पैटर्न एक सोचने समझने व्याख्या करने की एक व्यवस्था आपके मन में दे दी आप उसी व्याख्या से चलते हैं और सोचते हैं उसी व्याख्या के कारण आप सुखी और दुखी होते रहते हैं और उस व्याख्या को आप कभी नहीं बदलते सुख दुख को बदलने की बाहर कोशिश करते हैं और भीतर की व्याख्या को पकड़ के रखते हैं और आपकी हर कोशिश उस व्याख्या को मजबूत करती आपके चित्त को मजबूत करती आपके माइंड को और ताकत देती चली जाती जिसके कारण दुख होता है उसको आप मजबूत करते जाते हैं और निमित्त को बदलने की चेष्टा में लगे रहते हैं कारण छिपा रहता है निमित्त हम बदलते चले जाते फिर बड़े मजे की घटनाएं घटती कितना ही निमित्त बदलो कारण नहीं बदलता एक मित्र परसों मेरे पास आए अमेरिका में उन्होंने शादी की काफी पैसा कमाया शादी के बाद वो सारा का सारा पैसा अमेरिका के बैंकों में अपनी पत्नी के नाम से जमा किया खुद के नाम से कर नहीं सकते जमा पत्नी के नाम से वो सारा पैसा जमा किया अचानक पत्नी चली गई और उसने वहां से जाकर खबर दी कि मुझे तलाक करना है अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए पत्नी भी हाथ से जाती है और वो जो चार लाख रुपया जमा किया वो भी हाथ से जाता है अब किसी को कह भी नहीं सकते कि वो चार लाख जमा किया है लोग तो उसमें पहले यहाँ फंसेंगे वो चार लाख वहां ले कैसे गए वो जमा कैसे किया मेरे पास वो आए वो कहने लगे कि मैं पत्नी को इतना प्रेम करता हूँ कि उसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकता तो कोई योग में ऐसा चमत्कार नहीं है कि मेरी पत्नी का मन बदल जाए वो खींची चली आए लोग योग वगैरह में तभी उत्सुक होते हैं जब उनको कोई चमत्कार खींची चली आए ऐसा कुछ कर दे मैंने उनसे कहा कि पहले तो सच सच मुझे बताओ कि पत्नी से मतलब है कि चार लाख से क्योंकि योग में अगर पत्नी को खींचने का चमत्कार है तो चार लाख खींचने का भी चमत्कार हो सकता है तुम सच सच बताओ उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं रुपया अकेला आ सकता है तो पत्नी से कोई लेना देना नहीं बाहर में जाए रुपया निकल आए कहने लगी मैं तो उससे बहुत प्रेम करता था क्यों मुझे छोड़ के चली गई समझ में नहीं आता क्यों मुझे इतना दुख दे रही समझ में नहीं आता मैंने कहा बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है पत्नी को कभी भूल के भी तुमने प्रेम नहीं किया होगा तुमने भी शायद पत्नी को ये रुपया जमा करने के लिए ही चुना होगा और पत्नी भी इन रुपयों के कारण ही तुम्हारे पास आई होगी मामला बिल्कुल साफ है वो कहने लगे एक अवसर मुझे मिल जाए पत्नी वापस आ जाए तो मैंने जो जो आप भूलें बताते हैं अब दोबारा नहीं करूंगा आप मुझे समझा दें कैसा व्यवहार करूं क्या प्रेम करूं कभी फिर ऐसी एक लेकिन एक अवसर तो मुझे मिल जाए सुधरने का ये जो आदमी कह रहा है एक अवसर मुझे मिल जाए सुधरने का इसलिए अवसर मिले ये सुधरेगा ये हो सकता है पत्नी की हत्या कर दे सुधरने का आसार नहीं है कोई सुधरना ये चाहता भी नहीं ये मान भी नहीं रहा कि ये गलत है वो जो हमारे भीतर मन थे उसको तो हम मजबूत किए चले जाते हैं मैंने उनसे कहा कि दूसरी शादी कर लो छोड़ोगी दूसरी शादी कर लो इस बात को छोड़ो पैसा फिर कमा लोगे लेकिन अब दोबारा जमा मत करना अमरीका में तुम भी चोर थे पत्नी भी चोर साबित हुई चोर चोरों को खोज लेते हैं लेकिन ये मत सोचो कि इसमें दुख का कारण पत्नी हो बड़े दुखी है आंसू निकल निकल आते हैं ये वो चार लाख से निकल रहे हैं पत्नी से कोई लेना देना नहीं बड़े दुखी है लेकिन दुख का कारण वो सोच रहे हैं पत्नी का दगा है और दगा ये आदमी पत्नी को पहले से दे रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है पत्नी से वो रुपया ही सारा सारा हिसाब के है ये मन तो भीतर वही का वही है अगर ये कल फिर शादी कर ले तो फिर यही करेगा पश्चिम में मनस्विद जिन लोगों के तलाकों का अध्ययन करते हैं वो कहते हैं बड़ी हैरानी की बात है आदमी एक स्त्री से शादी करता है तलाक देकर दूसरी से करता है फिर दूसरी बार भी वैसी ही स्त्री चुन लेता है जैसी पहली बार चुनी थी एक आदमी ने आठ बार तलाक किया साल्टर ने उसके पूरी जिंदगी का विवरण दिया है और हर बार उसने सोचा कि अब दोबारा ऐसी पत्नी नहीं चुनूंगा और हर बार फिर वैसी ही पत्नी चुनी छह महीने बाद उसे पता चला कि वो फिर वैसी पत्नी चुन रहा है भारतीय इसलिए कुशल थे कि नाहक परेशान क्यों करना एक ही पत्नी चुननी है बार बार तो एक से निपटा लेने में हर्जा क्या है कम से कम इतनी राहत तो रहेगी कि मौका मिलता तो दूसरी भी चुन सकते थे चुन नहीं सकते हैं आप और इसलिए भारतीय बड़े अद्भुत थे कि वो पत्नी के चुनाव का काम खुद को नहीं देते थे माँ बाप से करवा लेते थे जो ज्यादा अनुभवी थे जो जिंदगी देख चुके थे और जिंदगी की नासमझियां समझ चुके थे इसलिए हमने व्यक्तियों के ऊपर नहीं छोड़ा था चुनाव अमेरिका में फॉल्टन ने कहा कि इस आदमी ने आठ दफा शादी की और हर बार वैसी पत्नी फिर चिल्लाया कारण क्या है चुनाव जिस मन से होता है वो तो वही है इसलिए मैं दूसरा चुन भी कैसे सकता हूं मुझे एक स्त्री की आवाज अच्छी लगती है आंख अच्छी लगती है चलने का ढंग अच्छा लगता है शरीर की बनावट अच्छी लगती है अनुपात पसंद पड़ता है उठना बैठना पसंद पड़ता है व्यवहार पसंद पड़ता है इसलिए मैं चुनता हूं जब मैं एक स्त्री को चुनता हूं तो मैं अपने मन को ही चुनता हूं उसको नहीं चुनता मेरी पसंदगी को चुनता हूं फिर ये स्त्री उपद्रवी मालूम पड़ती है झगड़े मालूम पड़ती है फिर इसमें दूसरे गुण दिखाई पड़ने शुरू होते हैं तब मैं इसे तलाक देता हूँ फिर दोबारा मैं एक स्त्री चुनता हूँ मैं फिर वही गुण खोजूंगा जो मैंने पहली स्त्री में खोजे थे और हर गुण के साथ जुड़ा हुआ दुर्गुण जो स्त्री एक खास ढंग से चलती है उसमें खास तरह का दुर्गुण होगा और जो स्त्री एक खास तरह से मुझे पसंद पड़ती है उसका दूसरा पहलू भी खास ढंग का होगा जो मुझे दिक्कत देगा पहली स्त्री में मैंने उसका चेहरा चुन लिया मैंने पूर्णिमा चुन ली लेकिन अमावस भी है और वो अमावस भी आएगी और जब अमावस आएगी तब मुझे तकलीफ होगी तब मैं कहूंगा ये मैंने फिर भूल कर ली लेकिन फिर तीसरी बार मैं चुनूंगा लेकिन फिर मैं पूर्णिमा चुनूंगा फिर अमावस होगी हर व्यक्तित्व के कैरेक्टर है जो मुझे पसंद पड़ता है उसके साथ जुड़ी हुई बात भी है वो बात मुझे दिखाई नहीं पड़ रही वो जब दिखाई पड़ेगी तब समझ में आएगा वो आदमी आठ दफा हर बार एक सी स्त्रियां चुन लेता है जैसे समझे एक आदमी को ऐसी स्त्री पसंद है जो बिल्कुल दब्बू हो हर बात में उसकी मान के चले लेकिन दब्बूपन भी एक तरकीब है दूसरे को दबाने की दब्बू भी बिल्कुल दब्बू नहीं होते वो अपने दब्बूपन से भी दबाते तो एक स्त्री आपने चुन ली कि ये दब्बू है मान के चलेगी सब ठीक है लेकिन ये पहला चेहरा है ये सिर्फ शुरुआत है ये खेल का प्रारंभ है नियम है खेल के आपको दब्बू स्त्री पसंद है वो पसंद पड़ गई लेकिन कोई कोई आदमी डब्बू नहीं है भीतर से कोई हो ही नहीं सकता दब्बू तो जैसे ही काम पूरा हो गया शादी हो गई रजिस्ट्री हो गई अब वो दब्बूपन खिसकना शुरू हो जाएगा वो तो सिर्फ तरकीब थी वो उस व्यक्ति की तरकीब थी आपको पकड़ने की वो तो मछली के लिए कांटे पर जो आटा लगा था वही था लेकिन कोई आटा खिलाने के लिए नहीं बैठा रहता जाके मछलियों वो कांटा खिलाने के लिए बैठा रहता जरूरी नहीं कि उसको भी पता हो वो भी शायद सोचता हो कि आटा खिला रहे हैं मछलियों को लेकिन आटा जब मुंह में चला जाएगा कांटा अटक जाएगा वो जो दब्बू मालूम पड़ रही थी वो धीरे धीरे शेर होने लगी थी हालांकि उसके शेर होने के ढंग में भी दब्बूपन होगा जैसे अगर दब्बू स्त्री आपको सताना चाहे तो रोएगी चिल्लाएगी नहीं क्रोध नहीं करेगी लेकिन रोना भी जान खाऊ हो जाता है और कभी कभी तो क्रोधी स्त्री कम जान खाऊ मालूम पड़ेगी निपट जाएगी रोने वाली स्त्री ज्यादा कुशलता से सताती आप ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है क्योंकि रोने वाले को क्या गलत कहो वो आपको दोहरी तरह से मारती नैतिक रूप से भी आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हैं वो आपको अपराधी सिद्ध कर देगी लेकिन तब तब लगेगा कि फिर वही चुन जाए दोबारा फिर चुनने जाएंगे फिर आपकी पसंद आपका जो मन है वो भीतर बैठा वो फिर दब्बू स्त्री पसंद करता आपकी दफा वो और भी ज्यादा दब्बू खोजेगा क्योंकि पहली दफा भूल हो गई उतनी दब्बू दब्बू साबित नहीं हुई ध्यान रखना और बड़ी दब्बू खोजेंगे तो और बड़ी उपद्रवी स्त्री मिल जाएगी मगर ये चलेगा क्योंकि हम जो मूल कारण है उसे नहीं देखते बाहर के निमित्त देखते और बाहर के निमित्त काम नहीं पड़ते महावीर कहते हैं अपने ही कृत कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं अब अगर मैं दब्बू स्त्री पसंद करता हूं तो ये मेरे लंबे कर्मों विचारों भावों का जोड़ है लेकिन मैं पसंद क्यों करता हूं दब्बू स्त्री मैं किसी को दबाना पसंद करता हूं इसलिए जब कोई मुझसे नहीं दबेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा असल में दबाना पसंद करना ही पाप है किसी को दबाना पसंद करना ये हिंसा है ये मैं गलती कर रहा हूं कि मैं किसी को दबाया हुआ पसंद करूं स्वभावता मैं भी दबाना चाहता हूं दूसरे भी दबाना चाहते हैं फिर कलह होगी फिर दुख होगा और दुख में दूसरे पर थोपने चला जाऊंगा अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हो उसके फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं है कैसा भी कर्म हो कर्म का फल होकर ही रहता है उसका कोई उपाय ही नहीं उसका कारण क्योंकि कर्म और फल दो चीजें नहीं है नहीं तो बचना हो सकता है कर्म और फल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मैं एक रुपए को उठा के मुट्ठी में रख लू और मैं कहूं कि मैं तो सिर्फ सीधे पहलू को मुट्ठी में रखूंगा और वो जो उल्टा हिस्सा है वो मुट्ठी में नहीं रखूंगा तो मैं पागल हूं क्योंकि सिक्के में दो पहलू है और कितना ही बारीक सिक्का बनाया जाए कितना ही पतला सिक्का बनाया जाए दूसरा पहलू रहेगा ही कोई उपाय नहीं है एक पहलू के सिक्के को बनाने का कोई उपाय नहीं है कर्म को फल से अलग करने का कर्म और फल एक ही सिक्के के दो पहलू कर्म एक बाजू फल दूसरे बाजू छिपा है पीछे ही खड़ा है हम सब इसी कोशिश में लगे हैं कि फल से बच जाएं और कभी कभी जिंदगी की व्यवस्था में हम बचते हुए मालूम पड़ते हैं एक आदमी चोरी कर लेता अदालत से बच जाता है तो वो सोचता है कि फल से बच गया वो फल से नहीं बचा समाज के दंड से बच गया फल से नहीं बचा फल तो आत्मिक घटना है अदालतों से उसका कोई लेना देना नहीं कानून से उसका कोई संबंध नहीं फल से कोई नहीं बच सकता सामाजिक व्यवस्था से बच सकता है छूट सकता है लेकिन बचने और छूटने का जो कर्म कर रहा है उसके फल से भी नहीं बच सकता भीतर तो बचाव का कोई उपाय ही नहीं है मैंने किया क्रोध और मैंने भोगा फल मैंने किया मोह और मैंने भोगा फल मैंने किया ध्यान और मैंने भोगा फल उससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है नहीं है उपाय इसलिए कि कर्म फल दो चीजें नहीं है नहीं तो हम एक को अलग कर सकते हैं दूसरे को अलग कर सकते हैं वे पहलू हैं इस संबंध में एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने एक बुरा कर्म किया फिर एक अच्छा कर्म कर दिया तो बुरे को काट देगा वो गलत सोचते हैं कोई अच्छा कर्म किसी बुरे कर्म को नहीं काट सकता इसलिए महावीर कहते हैं अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हो उसका फल भोगना पड़ेगा ऐसा काट पीट नहीं चलती ये कोई लेन देन नहीं है कि मैंने आपको आपने मुझे पांच रुपए उधार दिए मैंने आपको पांच रुपए लौटा दिए हिसाब किताब साफ हो गया इधर मैंने चोरी की उधर दान कर दिया मामला खत्म हो गया इधर मैंने किसी की हत्या की वहां एक बेटे को जन्म दे दिया मामला खत्म हो गया आपके अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं क्योंकि अच्छा कर्म अपने में पूरा है बुरा कर्म अपने में पूरा है बुरे कर्म का आपको दुखद फल और अच्छे कर्म का सुखद फल मिलता रहेगा आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक आम का बीज बो दिया पहले एक नीम का बीज बोया तो नीम का कड़वा वृक्ष लग गया फिर हमने एक आम का वृक्ष बो दिया तो आम का मीठा वृक्ष लग गया तो अब नीम का फल कड़वा नहीं होगा दोनों अलग अलग है नीम का फल अब भी कड़वा होगा आम का फल अब भी मीठा होगा आम की मिठास नीम की कड़वाहट को नहीं काटेगी नीम की कड़वाहट आम की मिठास को नहीं काटेगी बल्कि ये भी होगा कि जिसने नीम को भी चखा अकेला नीम को चखा शायद नीम उतनी कड़वी न मालूम पड़े जिसने आम को भी चखा नीम ज्यादा कड़वी मालूम पड़ेगी जिसने नीम को भी चखा आम ज्यादा मीठा मालूम पड़ेगा कंट्रास्ट होगा लेकिन कटाव नहीं होगा दोनों साथ साथ होंगे श्री महावीर कहते हैं अच्छे का फल अच्छा है बुरे का फल बुरा है अच्छा बुरे को नहीं काटता बुरा अच्छे को नष्ट नहीं करता इसलिए हमें मिश्रित व्यक्ति मिलते जिनको देख के मुसीबत होती एक आदमी हम देखते हैं कि वो चोर भी है बेमान भी है फिर भी सफल हो रहा है तो हमें बड़ी अड़चन होती है कि क्या मामला है क्या भगवान चोरों और बेईमानों को सफल करता है और एक आदमी को हम देखते ईमानदार है चोर भी नहीं है और असफल हो रहा है और जहां जाता है तो ऐसा आदमी कहते हैं सोना छुओ तो मिट्टी हो जाता कहीं भी हाथ लगाओ असफलता हाथ लगती क्या मामला है मामला इस वजह से है क्योंकि प्रत्येक आदमी अच्छे और बुरे का जोड़ है जो आदमी चोर है बेईमान है वो सफल हो रहा है क्योंकि सफलता के लिए जिन अच्छे कर्मों का होना आवश्यक है साहस गांव असुरक्षा में उतरना जोखिम वो उसमें है और जिसको हम कहते हैं ईमानदार और अच्छा आदमी असफल हो रहा है न जोखिम न गांव न साहस वो घर बैठ के सिर्फ अच्छे रह के सफल होने की कोशिश कर रहे हैं वो बुरा आदमी दौड़ रहा है अच्छा आदमी बैठा है वो बुरा आदमी पहुंच जाएगा दौड़ रहा है कुछ कर रहा है और ये दोनों मिश्रित है हर आदमी एक मिश्रण है इसलिए इस जगत में इतने विरोधाभास दिखाई पड़ते अगर कोई बुरा आदमी भी सफल हो रहा है और किसी तरह का सुख पा रहा है तो उसका अर्थ है कि उसके पास कुछ अच्छे कर्मों की संपदा है और अगर कोई अच्छा आदमी भी दुख पा रहा है तो जान लेना उसके पास बुरे कर्मों की संपदा है और एक दूसरे को कटाव नहीं होता इसलिए महावीर कहते हैं अच्छे कर्म कर कर के कोई मुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि अच्छे कर्मों के फल बुरे कर्म केवल छोड़ देने से कोई मुक्त नहीं हो सकता है अच्छा और बुरा जब दोनों छूट जाते हैं तब कोई मुक्त होता है इसलिए महावीर कहते हैं पुण्य से मुक्ति नहीं होती पुण्य से सुख मिलता है पाप के छोड़ने से मुक्ति नहीं होती केवल दुख नहीं मिलता लेकिन पाप और पुण्य जब दोनों छूट जाते हैं ना अच्छा ना बुरा तब आदमी मुक्त होता है मुक्ति अच्छे और बुरे से मुक्ति है मुक्ति द्वंद से मुक्ति है मुक्ति विरोध से मुक्ति है मोक्ष मोक्ष का अर्थ अच्छे कर्मों का फल नहीं है मोक्ष फल नहीं है महावीर की भाषा में स्वर्ग फल है अच्छे कर्मों का नरक फल है बुरे कर्मों का और हर आदमी स्वर्ग और नरक में एक एक पैर रखे हुए खड़ा है क्योंकि हर आदमी मिश्रण है बुरे और अच्छे कर्मों का आपकी एक टांग नरक तक पहुंचती है और एक टांग स्वर्ग तक पहुंचती है और निश्चित ही स्वर्ग और नरक के फासले पे जो आदमी खड़ा है उसको बड़ी बेचैनी खिंचाव आज नरक कल स्वर्ग सुबह नरक सांझ स्वर्ग इसमें तनाव चिंता पैदा होगी महावीर कहते हैं ये दोनों पैर हट जाते हैं स्वर्ग और नरक से जब आदमी के सारे कर्म शून्य हो जाते हैं कर्म की शून्यता मोक्ष कर्म का फल नहीं शून्यता तो सब कर्म छीन हो जाते श्री महावीर कहते हैं पापी जीव के दुख को न जाति वाले बटा सकते हैं न मित्र न पुत्र न भाई न बंधु दुख आता है तब अकेले ही भोगना है क्योंकि कर्म कर्ता के पीछे लगते हैं अन्य के नहीं कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा क्योंकि कर्म आपका है कर्म दूसरे का नहीं है मेरी पत्नी का कर्म नहीं है मेरा कर्म मेरा है मुझे भोगना पड़ेगा इस अर्थ में महावीर मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति परम स्वतंत्र है दूसरे से बंधा नहीं है और इसलिए कोई लेन देन का उपाय नहीं कि मैं दुख आपको दे दू हालांकि हम कहते हैं हम कहते हैं किसी को प्रेम करते हैं तो हम कहते हैं सब दुख मुझे दे दो कोई उपाय नहीं और शायद इसीलिए आसानी से कहते हैं क्योंकि कोई उपाय नहीं अगर ऐसा हो सके तो मैं नहीं मानता कि कोई किसी से कहेगा कि सब दुख मुझे दे दो तब प्रेमी ऐसा सोचेंगे कि कब दूसरा मांग ले सब दुख अभी हम बड़ी मजे से कहते हैं कि तुम्हारी पीड़ा मुझे लग जाए मेरी उम्र तुम्हें लग जाए वो लगती वक्ती नहीं इसलिए लगने लगे फिर कोई कहने वाला नहीं मिलेगा असल में प्रत्येक व्यक्ति अकेला है भीड़ में भी अकेला है कितना ही संग साथ में हो अकेला है वो जो चैतन्य की भीतर धारा है उसकी अपनी मित्रता है इंडिविजुअलिटी है और जो भी उस चेतना की धारा ने किया है उसी धारा को भोगना पड़ेगा गंगा बहती है एक रास्ते से नर्मदा बहती है दूसरे रास्ते से तो गंगा जिन पत्थरों से बहती है जिस मिट्टी से बहती है उसका रंग गंगा को मिलेगा और नर्मदा जिस मिट्टी से बहती है और जिन पत्थरों से बहती है उनका रंग नर्मदा को मिलेगा और कोई उपाय नहीं है कोई उपाय नहीं हम सब धाराएं हैं और हम सबके जीवन पथ अलग अलग है कितने ही पास पास और कितने ही एक दूसरे को हम काटते मालूम पड़े और कितना ही चौरसों फूट पर मुलाकात हो जाए हमारा अकेलापन नहीं कटता हम अकेले और दूसरे पर बांटने का कोई उपाय नहीं इस पर बहुत जोर है महावीर का क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर ये ख्याल में आ जाए तो व्यक्ति अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और जिस व्यक्ति ने समझा कि सारी जिम्मेदारी मेरी है वो पहली दफा मैच्योर प्रौढ़ होता है नहीं तो हम बच्चे बने रहते हैं प्रौढ़ता का एक ही अर्थ है बच्चा सोचता है माँ की जिम्मेवारी बाप की जिम्मेवारी पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो प्रौढ़ आदमी सोचता है अपने पैरों पर खड़ा एक आध्यात्मिक प्रौढ़ता है उस प्रौढ़ता का अर्थ है कि कोई के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ कोई मेरे लिए जिम्मेवार नहीं हूँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ और कोई उपाय नहीं है कि हम बांट सके साझा कर सके तो जो भी मैं हूँ उसे मुझे स्वीकार कर लेना है और जो भी मैं हूं उसको ही मुझे रूपांतरित करना है और जो भी परिणाम आए किसी की शिकायत का कोई कारण नहीं है जो भी फल आए उनका बोझ मुझे ही ढो लेना है ये जोर इसलिए है कि अगर दूसरे हमारे लिए जिम्मेवार हैं तो फिर हम कभी मुक्त ना हो सकेंगे तब तक तो सारा जगत मुक्त ना हो जाए तब तक मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है अगर मैं ही जिम्मेवार हूं तो मैं मुक्त भी हो सकता हूं अगर दूसरे भी जिम्मेवार हैं अगर आप मुझे दुख दे सकते हैं सुख दे सकते हैं अगर आप मुझे आनंदित कर सकते हैं और पीड़ित कर सकते हैं तो फिर मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं फिर आपके ऊपर मैं निर्भर हूं आपकी मर्जी पर निर्भर हूं आप मेरी मर्जी पर निर्भर है मैं आपकी मर्जी पर निर्भर हूं तब तो सारा संसार एक जाल है उस जाल में से कोई हिस्सा नहीं छूट सकता महावीर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति कितने ही संसार के बीच में खड़ा हो अकेला है टोटली अलोन एकांत रूपेण अकेला है इस अकेलेपन को समझ ले तो संन्यास फलित हो जाता है वो जहां भी हो इस अकेलेपन के भाव को समझ ले तो संन्यास फलित हो जाता है चाहे वो कहीं भी हो अपने को अकेला जानना संन्यास है अपने को साथियों में जानना संसार है मित्रों में परिवार में समाज में देश में बंधा हुआ अंश की तरह जानना संसार है मुक्त अलग टूटा हुआ अकेला आणविक एटॉमिक अकेला अपने को जानना संन्यास है आज इतना ही पांच मिनट कीर्तन करें